ओम प्रातःकालीन उपासना के लिए आसन को व्यवस्थित कर लें का से बंद प्रयत्न शैथिल्य अवस्था से जितनी अधिक देर तक शरीर को यथावत रख सकें उतना बनाए रखें कोई हलन चलन नहीं कोई गति नहीं पूर्ण स्थिर इस उपासना के लिए संकल्प करें मुझे आज प्रातःकाल पुनः शुद्ध उपासना का अवसर मिल रहा है इस उपासना को पूर्ण जागरूकता से तत्परता से करते हुए मैं अपने मोक्ष मार्ग पर थोड़ा और आगे बढ़ जाऊंगा उपासना का एक एक क्षण सजगता से प्रक्रिया के अनुसार करना है संकल्प अपन को श्वास को धीमा करें लंबा करें लयबद्ध समान गति से पूरा श्वास भरें इसी तरह पूरा श्वास बाहर निकाल दें समान गति से धीमा लंबा श्वास और प्रश्वास जागरूकता से श्वास की गति को देखते रहें अनुभव करते रहें पूर्ण नियंत्रण के साथ समान गति से धीमा लंबा श्वास से रुकेंगे आगे तीन बाह्य प्राणायाम श्वास को पूरा भर के तेजी से बाहर निकाल दें मूल बंद उड्डयन बंद पेट को पीछे और ऊपर खींच लें जिन सज्जन को अधिक खांसी है वो कृपया बाहर उद्यान में जाके उपासना कर लें जिन्हें अधिक खांसी उठ रही है वे कृपया बाहर उद्यान में बैठ लें घबराहट होने तक श्वास को रोकना है यथाशक्ति रोक करके श्वास भर लें अपने मन का निरीक्षण करें प्राणायाम से मन पर क्या प्रभाव पड़ा प्रत्याहार का संपादन मन को निराकार सर्वव्यापक परमात्मा में टिका दें दूर दूर तक व्यापक परमात्मा मेरे निकट अंदर सर्वत्र व्याप्त परमात्मा मैं अणुस्वरूप चेतनात्मा परमात्मा में डूबा हुआ व्याप्य व्यापक भाव यदि कोई बाह्य विषय पकड़ में आता है तो तत्काल रोक के अंदर ही लगाए रखें उस पर विचार चिंतन प्रारंभ न कर दें फिर वो विषय आता है फिर अंदर लगा दें फिर विषय पकड़ में आता है चिंतन न करें उसमें सतत प्रयास प्रत्याहार का अभ्यास अभ्यास आप धारणा लगा लें मन को अंदर ही अंदर से धारणा स्थल पर पहुंचाकर वहां की संवेदनाओं को पकड़ते हुए मन को उसी स्थान पर टिका दें मन को स्थिर रखते हुए एकाग्रता से सूक्ष्मता से धारणा स्थल की संवेदनाओं को पकड़ अपनी समग्र स्थिति का एक बार अवलोकन करें स्थिर शरीर शांत मन अंतर्मुखी धारणा स्थल पर टिका हुआ मन उपासना के लिए ध्यान के लिए तत्पर अनुकूल स्थिति आके ओम के माध्यम से प्रभु का स्मरण जिस अर्थ की भावना आप करना चाहें वह करते रहें उवाच गति से ओम का मन में जप अर्थ की भावना को प्रधान बनाए रखें किसी एक अर्थ की भावना केवल ओम का जप और एक अर्थ की भावना अब धीरे से रुकेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से श्रेष्ठ बुद्धि की उत्तम ज्ञान की कामना ईश्वर की प्रेरणाओं की आवश्यकता अनुभव करते हुए कामना शुद्ध ज्ञान के अनुरूप जितना व्यवहार कर रहे हैं उस पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक प्रार्थना सवितुर् प्रचति मही मानसिक जप धीमी गति से अर्थ की भावना को प्रबलता से रखते हुए ईश्वर की सत्प्रेरणाओं में ही अपने जीवन की सफलता देखते हुए सत्प्रेरणाओं की कामना धीरे से रुकेंगे गायत्री मंत्र की भावना को कविता के माध्यम से मन में और उभारेंगे प्राण दाता ओम धारण दाता ओम प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में प्रज्ञा प्रेरित कर विश्वविधाता ओ ईश्वरीय प्रेरणाओं को उत्सुकता से धैर्य से ग्रहण करने और स्वीकारने की स्थिति बनाए हे प्रभो मुझे अपना जीवन आपकी प्रेरणाओं के अनुरूप बनाना है मुझे आपके निर्देश के अनुसार ही आपके निर्देश के अनुरूप ही चलना है परम कल्याण है अब धीरे से रुकेंगे अब तक संपादित अपनी उच्च स्थिति सात्विकता एकाग्रता निर्मलता श्रद्धा को बनाए रखते हुए अंतकरण में और गहराई तक और अधिक संस्कार डालने के लिए वैदिक संध्या के माध्यम से ध्यान का अभ्यास पूर्व निर्देश के अनुसार अर्थ की भावना करते रहें उसकी प्रमुखता बनाए रखें वैदिक संध्या शनो देवी अभिष्टया पीतय प्रभु आपकी कृपा की वर्षा मुझ पर सतत बनी रहे उसका सदुपयोग कर मैं जीवन को सफल बना सकूं एक अंग के बल और सामर्थ्य की कामना पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक وشهود संपूर्ण शरीर की बलवत्ता की कामना आगे प्रत्येक अंग की पवित्रता पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक प्रार्थना तो सर्वत्र परम पवित्र परमात्मा से पवित्रता की कामना पवित्र ज्ञान पवित्र कर्म पवित्र भावना अपने को पवित्रता से युक्त देखें यही पवित्रता की भावना व्यवहार के काल में भी अंदर ही अंदर बनाए रखें आगे परमात्मा के गुणों को स्मरण करते हुए और अधिक प्रीति को बनाएंगे बाह्य प्राणायाम मन में प्राणायाम मंत्र को बोलते रहें अथवा ओम का उच्चारण मानसिक ओम उपासना से लेके प्रातःकालीन उपासना के काल में जो दोष हुए हों दुर्विचार दुर्भावनाएं आई हों उन्हें स्मरण करते हुए उनके विलीन होने का भाव मन में बनाएंगे प्रभु का स्मरण शक्ति सामर्थ्य का स्मरण करते हुए अथवा अपने किसी दुर्गुण को ले लेंगे जिसे हटाना चाहते हैं

विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ यथा पूर्वमकल्पयत् देवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षम् स्वाहा अपने को अघ से अछूता देखें सात्विकता की स्थिति में विवेक की स्थिति में ये दुर्गुण ये दुर्भावना ये कुविचार मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं मैं इनसे ऊपर उठ चुका हूं इस अच्छी स्थिति की एक स्मृति बना लें जिसका उपयोग दिन में यथा समय करते रहें ताकि ईश्वर से पुनः सहयोग कृपा की प्रार्थना ओ विशिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः परिक्रमा सब और ईश्वर का आधिपत्य सब और ईश्वर की रक्षा विद्यमान है सब और ईश्वर के द्वारा निर्मित वस्तुएं मेरे सहयोग के लिए विद्यमान है मैं सभी को नमन करता हूं ईश्वर के प्रति इस सहयोग के लिए कृतज्ञता का भाव प्राकृतिक वस्तुओं को ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग में लेने का भाव संकल्प मन में रखते हुए साथ ही जो मेरी हानि करते हैं द्वेष करते हैं के प्रति मैं कोई दुर्भावना कुटिलता नहीं रखूंगा उनके साथ ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप आदेश के अनुरूप व्यवहार करूंगा मन में भावना रखें ओ रक्षिता रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं देश्मस्तं दाहिनी तरफ दक्षिणातिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं विष्मस्तं पीछे की ओर प्रतीची इति करुणोऽधिपतिः रक्षिता रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो पिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो तिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो हस्तं भेदत्मः नीचे की ओर विष्णुरधिपति कलमा शग्रीवो रक्षिता वीरुत ईशवः तिपतिभ्यो नमो तिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं विष्मस्तङ्गो भेदत्मा ऊपर की ओर ऊर्ध्वातिगृहस्पतिरधिपतिः क्षेत्रो रक्षिता वर्षामि शवः तेभ्यो न पतिभ्यो नम रक्षितेभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्देष्टियं वयं ईश्वर के प्रति नमन ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुओं को मुक्ति प्राप्ति के लिए सदुपयोग में लाने की भावना और जो मेरे से द्वेष करते हैं उनके प्रति मैं कोई दुर्भावना नहीं रखूंगा उनके प्रति भी सद्भावना का विचार सदा बना रहे इस प्रकार मन को और उच्च स्थिति में पहुंचाकर अब ईश्वर की और निकटता को पाने का प्रयास ईश्वर की निर्विकारता पवित्रता मेरे अंदर आती रहे Oh. वरुणश्चाग्नेः आप्रात्यावापृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्युक्तमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं ईवेम शरदः शतं शृणुयाम शरद शतम् प्रवाम शरद शतम दीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शता मुक्ति प्राप्ति के लिए दीर्घ आयु की कामना गायत्री मंत्र ओ ईश्वर से इसी प्रकार की शुद्ध बुद्धि की कामना व्यवहार काल में भी इतना ही अच्छा ज्ञान स्थिति बनी रहे समर्पण हे ईश्वर दया निधे भवत

केवल आपकी प्राप्ति के लिए जीवन की समस्त क्रियाओं को समस्त साधनों को करने का मैं संकल्प ले रहा हूं मेरे सभी कर्म आपके लिए समर्पित हैं आपकी आज्ञा के अनुरूप समर्पित हैं नमस्कार मंत्र परम पिता परमात्मा की परम कृपा को परम सहयोग को अनुभव करते हुए उसके प्रति अपने समस्त आदर को उभार लें ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा अत्यंत आदर का भाव से प्राप्त सात्विकता निर्विकारता शांति और स्थिरता को अनुभव करें इसकी स्मृति बना लें प्रभु के प्रति धन्यवाद और हार्दिक कृतज्ञता अपने सामर्थ्य को अनुभव करें मैं भी उच्च स्तर की उपासना कर सकता हूं आगे मैं और भी अच्छी उपासना करूंगा त्रुटियों के लिए आलस्य के लिए चंचलता के लिए परमात्मा से क्षमा मांगे आगे सुधार का संकल्प करें आज की उपासना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को स्मरण में लाएं इसे बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथों में गति प्रदान करें हाथों में गति दे लें थोड़ा खिंचाव फैलाव कर लें पीछे सहारा ले लें पैर की अंगुलियों पंजों टखनों में धीरे धीरे गति प्रदान करें धीरे धीरे खोल लें शरीर को थोड़ा हिला डुला लें धीरे धीरे अंदर की स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को थोड़ा सा खोलें दृष्टि नीचे धीरे धीरे संतुलन बनाए रखते हुए खड़े हो जाएं शारीरिक गतियां करते हुए ये सावधानी रखें कि अंदर की भावना छूट ना जाए बनी रहे नेत्रों को बंद कर लें अभिवादन मुद्रा प्रार्थना प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जी जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बड़े चले हम रुके न क्षण भी बड़े चले हम रुके न क्षण भी दृढ़ संकल्प हमारा ओ यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा ओ यह दृढ़ संकल्प नेत्रों को नीचे की ओर खोल लें आज यज्ञ साढ़े छः से होगा निवृत्त होके मानसिक स्थिति गंभीरता बनाए रखते हुए यज्ञशाला में पहुंचेंगे अपने व्रतों के लिए आहुतियां भी देंगे प्रातराश करने तक मौन को गंभीरता को बनाए रखें प्रातराश के बाद भी जब वाणी को खोलें तो उस पर संयम रखें धीमे अत्यल्प ही बातचीत करें जितनी आवश्यकता हो हंसी मजाक ऊंचा ऊंचा बोलना इत्यादि से अपने को बचा के रखें धीमे धीमे आवश्यकता अनुसार बात कर सकेंगे ओम शम